और तुम्हारे हम मशरब लोगों को हम पहले ही हलाक कर चुके हैं अब बताओ है कोई जो नसीहत हासिल करे